ओम का उच्चारण करेंगे ओ प्रेमी सज्जनों जिज्ञासा समाधान के क्रम में आज एक प्रश्न ले रहा हूं आप लोगों की तरफ से आया है प्रश्न है अगर हम सामने वाले को उसका दोष बताते हैं या अधिकारी को अव्यवस्था की सूचना देते हैं तो क्या हमारा दोष बनता है तो फिर बस जो है जैसा है वैसा चलने दें ये एक व्यवहारिक प्रश्न है व्यवहारिक समस्या है चाहे हम घर गृहस्थी में हो या आश्रम में रह रहे हों गुरुकुल में रह रहे हों इस बिंदु से प्राय हमें दो चार होना पड़ता है इसका सामना करना होता है हमारे सामने प्रश्न आता है यदि इस प्रश्न को बिल्कुल सीधे लें कि क्या हमें दूसरे को उसका दोष बताना चाहिए अधिकारी को दोष बताना चाहिए तो पहला उत्तर आएगा हाँ बताना चाहिए लेकिन इतने मात्र से ये विषय समाप्त नहीं हो जाता हम किसको दोष बता रहे हैं और किस लिए बता रहे हैं इसकी भिन्नता से इस विषय में बहुत भिन्नता आ जाती है समाज में कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां दोष बताना दोष सुनना सहज स्वीकार्य होता है जैसे कि कोई शिक्षक प्रशिक्षु को दोष बताए उससे कोई सीखने गया है तो उसको दोष बताते हैं सिखाते हैं आप में भी ये कमी है और वो सीखने वाला भी प्रसन्नता से लेता है उसको वो सीखने वाला भी चाहता है कि ये शिक्षक मुझे बताए मेरे में क्या दोष है क्योंकि वो इसीलिए उसके पास में जाता है माता पिता से भी प्राय हम सुन लेते हैं लेकिन कभी सीमा पार करती है तो नहीं भी सुन पाते ऐसी भी स्थिति बनती गुरुजनों से बड़े बुजुर्गों से हम प्राय सुन लेते हैं मार्ग पे चलते हुए यदि कोई सिपाही पुलिस वाला हमें टोकता है दोष बताता है तो भी हम सुन लेते हैं ठीक भी करते हैं अनेक स्थानों पर इसमें हमें परेशानी भी होती है दुख भी होता है कुछ हम अपमानित अनुभव करते हैं लेकिन जब हम दूसरे को दोष बताते हैं उसमें सामने वाला यदि ग्रहण करने की स्थिति में होता है स्वीकार करने की स्थिति में होता है हमारा उसके साथ में जो संबंध है वो यदि दोष को कहने और सुनने की स्थिति में होता है तो दोष बताते हुए कोई समस्या नहीं आती है अड़चन नहीं होती है शिक्षक से हम क्यों सुन लेते हैं और हम क्यों चाहते हैं क्योंकि हम दोष दूर करना चाहते हैं और उसके कहने पर हमें कष्ट क्यों नहीं होता क्योंकि हमने उसे दोष बताने के लिए स्वीकार कर सक कर रखा है कि आप हमारे दोष बता सकते हो इसी प्रकार से अन्य स्थितियों में भी जब दोष बताने वाला और दोष सुनने वाला इनमें परस्पर ये सम्मति होती है स्वीकार्यता होती है तो समस्या नहीं आती है छोटे यदि बड़ों को दोष बताएं तो वहां अनेकत्र समस्या आती है अजनबी व्यक्ति हमारे को कोई दोष बताए समस्या आती है हमारा बहुत प्रिय हमारा सहयोगी व्यक्ति हमें अपना दोष बताता है तो समस्या नहीं आती जब हमें ये प्रतीत होता है कि सामने वाला हमारे हित के लिए बता रहा है तो वो स्वीकार्य हो जाता है स्वीकार्य कब नहीं होता है जब हमें ये प्रतीत हो कि दूसरा मुझे सुधारने के लिए नहीं किसी और प्रयोजन के लिए बता रहा है सुधारने का प्रयोजन है भी तो कम है या बोल तो रहा है कि सुधारने के लिए लेकिन उद्देश्य कुछ और है क्योंकि हम दूसरे को दोष बताते हुए अनेक बार उसको अपमानित करने के लिए भी बताते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए भी बताते हैं अपने को उससे ऊंचा बताने के लिए भी बताते हैं अपनी हीन भावना को दूर करने के लिए भी बताते हैं क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को दोष बताता है तो स्वाभाविक है जो बताने वाला है वो उस विषय में अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वो बता सकता है बताने की स्थिति में है और जिसको दोष बताया जा रहा है वो अपना दोष नहीं सुधार पा रहा है या नहीं जानता है तो बताने वाला थोड़ा ऊंची स्थिति में होता है तो अनेक व्यक्ति अपनी निराशा को दूर करने के लिए या हीन भावना को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं जाने अनजाने बताते समय उन्हें अपना आत्मविश्वास कुछ बढ़ता हुआ दिखता है अपना कुछ बड़ापन लगता है और ये जो भिन्नताएं हैं भिन्न प्रयोजन हैं ये दोष बताने और सुनने में अनेक जगह समस्याएं पैदा खड़ी कर देते हैं हम दूसरे को बता सकते हैं बताना चाहिए किंतु किसको बता रहे हैं ये ध्यान रहना चाहिए मेरे से छोटा है बराबर का है बड़ा है किस समय बता रहे हैं ये भी देखना चाहिए वो समय ठीक है या नहीं है बताने का असमय में तो नहीं बता रहे हैं कोई व्यक्ति किसी विशेष समय में हमारा दोष आराम से सुन लेगा लेकिन किसी विशेष स्थिति में वो दोष नहीं सुनेगा स्वीकार नहीं करेगा एकांत और समूह इसके एक उदाहरण है अकेले में बताए तो सुन लेता है गुस्सा भी नहीं आता है लेकिन सबके सामने बताएं तो गुस्सा आता है समस्या हो जाती है वो स्वीकारता नहीं है क्योंकि वहां दोष बताने और सुनने के अतिरिक्त बातें भी जुड़ चुकी हैं सबके सामने बताने से उसे ये आशंका होती है कि ये सबके सामने मेरे को अपमानित करना चाहते हैं इसका प्रयोजन केवल सुधार नहीं है अथवा सुधार का नाम है ये सबके सामने ये जताना चाहता है कि आप में ये दोष है आप अपने को बड़ा समझते हो लेकिन आप में ये दोष है आप छोटे हो आप अप, लेकिन अपने को बहुत होशियार समझते हो लेकिन देखो आप में ये दोष है तो किसको बता रहे हैं कब बता रहे हैं किस लिए बता रहे हैं इन सब के ऊपर ध्यान देते हुए बताना होता है जिसे हम दोष बता रहे हैं वो कुछ दोष कर रहा है ये हमें पता लग गया है ये भी देखना होता है कि सामने वाला ये दोष क्यों कर रहा है या उससे ये दोष क्यों हो रहा है और इसके आधार पर हमारे बताने का तरीका बदलता है और इसको हम ठीक जान लेंगे तो बताने का तरीका भी ठीक रहता है तो समस्या कम होती है हो सकता है सामने वाले को उस दोष का पता ही नहीं हो कि मेरे से ये दोष हो रहा है उस स्थिति में भी बताया जाता है एक सामने वाले को पता तो है वो दोष कि मेरे से ये दोष होता है लेकिन वो जब त्रुटि होती है अवसर आता है तो उसको याद नहीं रहता ध्यान नहीं रख पाता है दोष को जानता है उसे दूर भी करना चाहता है किंतु उसे ध्यान नहीं रहता और वो त्रुटि बार बार होती है कुछ ऐसे दोष होते हैं हम दोष मानते हैं लेकिन वो ये जानता है कि मैं ऐसा करता हूं या संस्था में ऐसा है लेकिन उसको वो दोष नहीं मानता अथवा वो दोष मानता है लेकिन बहुत छोटा दोष मानता है उसके लिए विशेष प्रयत्न करने की अपेक्षा वो नहीं रखता व्यक्ति या संस्था का अधिकारी उसके पास बहुत सारे कार्य हैं वो उन कार्यों में लगा हुआ है कर रहा है हर चीज पे ध्यान नहीं दे पाता अथवा सोचता है कि जो मुख्य कार्य है उन्हीं को करूं ये चीजें कुछ ना भी हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं हो जाएंगी बाद में तो सामने वाला वो दोष क्यों कर रहा है इसको समझ के जब हम बताते हैं तो अधिक अच्छी तरह बताते हैं और समस्याएं नहीं होती अनेक बार यदि हम उस व्यक्ति को दोष बताएं जो जानता है तो हम अलग भाषा में बताने लगते हैं जैसे नए व्यक्ति को बताते हैं और वो सामने वाले के लिए अनेक बार असह्य हो जाता है वो सोचता है ये मेरे को इतना भी नहीं समझता कि मैं इस विषय को जानता भी हूं ये इस तरह से बता रहा है तो दूसरे को दोष बताना चाहिए चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो चाहे संस्था में अधिकारी हो लेकिन इन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जब हम आक्षेपात्मक भाषा में बताते हैं देखो जी आप में ये दोष है देखिए जी आप ठीक ढंग से चलते नहीं है आपको ठीक ढंग से चलना नहीं आता है आपको ठीक ढंग से खाना नहीं आता है आपको अपनी चीजें व्यवस्थित नहीं रखना आता है आपको कपड़े ठीक पहनना नहीं आता है ये भाषा जब है दोष तो बता रहे हैं लेकिन आक्षेपात्मक भाषा है सामने वाले को दोष बताते समय हम पहले ये आश्वस्त हो लें कि वो अभी स्वीकार करने की स्थिति में है व्यक्ति या विशेष काल में और कुछ सहयोग हम उसको यदि कर रहे हैं तो हम साहस करें यदि हम नए नए व्यक्ति से मिलते हैं नई नई संस्था में जाते हैं और वहां जाते ही दोष बताने लगते हैं यहां तो ऐसा है यहां तो ऐसा है यहां तो ऐसा है तो ये प्राय स्वीकार नहीं होगा और उस दोष को बताते हुए यदि तुलना करने लग जाए वहां तो ऐसा है यहां नहीं है ऐसा वहां तो ये ठीक है लेकिन यहां ये नहीं होता है ये भी समस्या खड़ी कर देगा दोष बताते समय यदि हम आत्मवत भावना रखें इस रूप में कि मैं भी बहुत से दोष करता हूं बहुत से दोष जानता हूं तो भी दूर नहीं कर पा रहा हूं प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पाया हूं बहुत से दोष हैं जिनके लिए मैंने अभी प्रयत्न तक नहीं प्रारंभ किया है जानता हूं ये मेरे में दोष है क्या हम अपने प्रति भी उसी तरह से बोलते हैं जैसे दूसरे को बोल रहे हैं यदि उत्तर हा में आता है जैसे हम अपने के लिए भी व्यवहार करते हैं अपने दोषों को देखते हुए ऐसा दूसरे को भी आत्मवत मानते हुए अपना मानते हुए यदि हम दोष बताते हैं तो प्राय स्वीकार्य हो जाते हैं हाँ बहुत बार अच्छी तरह बताते हुए भी हित की भावना से बताते हुए भी आक्षेप न करते हुए भी दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको विशेष अहंकार होता है पद का ज्ञान का अधिकार का धन का तो किसी भी ढंग से बताएं उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं होता ये वो सामने वाले में दोष होता है ऐसा भी बहुत जगह में होगा और उन स्थलों पर यदि हम देखते हैं कि व्यक्ति वैसे तो अच्छे काम कर रहा है काफी लेकिन कुछ दोष हैं और हमें पता लग गया है कि ये दोष बताने पे स्वीकार नहीं करता या इस सहज स्थिति में नहीं रहता है तो उन स्थितियों में हम छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं कभी और जब ये अनुकूल स्थिति आएगी तब बताएंगे अथवा ये नहीं स्वीकार करते नहीं सुनने की स्थिति में तो कोई बात नहीं चलो ऐसी जगहों पर दोष बताना छोड़ भी दिया जाता है बताना आवश्यक नहीं है सब जगह बताना आवश्यक नहीं होता है कुछ जगह चुप रहा जाता है दोष बताते समय अनेक बार दोष बताने वाला छोटे दोष को बहुत बड़ा और गंभीर मानते हुए प्रस्तुत करता है बहुत बड़ा मानता है उसको बड़ा महत्व देता है और छोटी बात को भी बहुत महत्व देता है और उस पर जोर भी लगाता है सुनने वाले ने भी सुन लिया ठीक है जी मैं ध्यान रखूंगा प्रयास करूंगा अब जिसने दोष बताया वो, वो यही देखता रहता है कि मैंने दोष बताया अब इसने ठीक किया है नहीं किया दो घंटे पांच घंटे एक दिन दो दिन जितनी देर होती जाती है थोड़ा थोड़ा उसके मन में दोष बताने वाले के मन में एक आक्रोश विद्रोह पैदा होने लग जाता है तो किया ही नहीं मेरी बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया दोष दूध करने की इच्छा ही नहीं है वैसे अपने को बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं देते इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ वो सोचने लग जाते हैं अब समस्याएं खड़ी होने लगती हैं अब उसके मन में आक्रोश आवेश है चल रहा है विचार चला लिया उसने और फिर जब कभी वो दोबारा याद दिलाएगा तो वो अलग भाषा में याद दिलाएगा वहां फिर समस्या पैदा हो जाती है यदि दोष बताने वाला दोष बताने तक अपने को सीमित रखे कि बता दिया उनको मनुष्य है उसके पास भी कार्य हैं विचार रहे होंगे हो सकता है भूल गए हों धैर्य से कुछ प्रतीक्षा करें तो वो बार बार नहीं कहेगा और ठीक तरह कहेगा नहीं तो फिर ऐसे व्यक्ति फिर बार बार जब बोलने लग जाते हैं फिर एक दिन में टोका जी मैंने वो आपको कहा था हुआ या नहीं हुआ वो तो जी हुआ ही नहीं फिर अगले दिन याद दिलाएगा अब ये दूसरे के लिए सहनशीलता पार करने वाली स्थिति आ जाती है कुछ चीजें हमें दूसरे को बतानी होती हैं आवश्यक होती हैं जिससे हमें कोई विशेष समस्या हो रही हो कुछ ऐसे दोष होते हैं जो वहां हो रहे हैं इससे हमारे को अभी कोई हानि नहीं हो रही है सीधे सीधे हमें कोई बाधा नहीं हो रही है आश्रम या घर में कोई विशेष और को भी बाधा नहीं हो रही है ठीक है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी अव्यवस्था है उसको हम काफी छोड़ सकते हैं धैर्य से काफी प्रतीक्षा कर सकते हैं कुछ चीजें होती हैं जो अपने को बड़ी समस्या खड़ी कर रही हैं तो हमें विशेष बतानी होती है वो अवश्य बतानी चाहिए किसी साथ वाले के लिए बड़ी समस्या कर रही वो अवश्य बतानी चाहिए वहां तत्काल भी कहा जाता है आग्रह भी किया जाता है सामने वाले को यदि हम उचित ढंग से बता दें उसका कारण भी बता दें युक्ति से समझा दें कि नहीं ये जी आवश्यक है तो वो प्राय मान लेता है कई बार हम दोष दूसरे को बता रहे हैं दूसरा भी समझता है उस दोष को और उसने कह दिया कि हाँ आपकी बात ठीक है लेकिन फिर भी सामने वाला दोष बताने वाला उसके कारण समझाने लग जाए उसको ये मैंने इसलिए कहा इस दोष से ये होगा वो होगा तो जिसको दोष बताया जा रहा है अगर वो स्वीकार कर लेता है शुरू में ही तो फिर अधिक समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए यदि हम फिर भी समझाने का प्रयास करें तो वो फिर अशिष्टता हो जाती है और फिर वो क्षोभ का कारण बनती है आपने कहा सामने वाले ने स्वीकार कर लिया तो अब वो आवश्यकता नहीं है विस्तार में जाने की वो भी समझ रहा है हाँ यदि वो कहता है कि जी आप कह तो रहे हो लेकिन ये बात तो हो नहीं सकती या मेरे पास ये समस्या है तो हम बता सकते हैं उसको कि जी ये काम ऐसे हो सकता है इससे अच्छा नहीं लग रहा है हम जब उसे इस रूप में कहें मान लीजिए झंडा पुराना हो गया है फीका पड़ गया है हम यूं तो एक तो यूं कहें कि ये झंडा तो जी यहां पर पुराना हो गया है ये झंडा बहुत दिन से बदला नहीं क्या एक हम कहें कि ये झंडा अब अच्छा नहीं लग रहा है क्या अपने यहां और झंडे हैं मैं कुछ इसमें आप सहायता कर सकता हूं इत्यादि भाषा में जब बोला जाता है तो दूसरा स्वीकार कर लेता है तो दोष अवश्य बताना चाहिए हित की भावना से और सुनने वालों को भी सुनना चाहिए सुधार के लिए प्रयत्नशील होते हैं लेकिन बताते समय ये अवश्य देख लेना चाहिए कि सामने वाला कौन है इसको जानता है या नहीं जानता है अभी वो ग्रहण करने की स्थिति में है या नहीं है कई बार एक और विचित्र स्थिति बनती है कि सामने वाला ये भी कह रहा होता है कि मेरे दोष बताइए आप आके कहता है कि मेरे दोष बताइए और तब है हम दूसरे को उसके दोष बताते हैं तो जो दोष पूछ रहा है यदि वो वास्तव में दोष पूछने के लिए सुधार के लिए पूछ रहा है तब तो समस्या नहीं होती है लेकिन दोष पूछना भी भिन्न प्रयोजन के लिए हो सकता है वो ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना सुधार करने वाला हूं वास्तव में दोष स्वीकार करने की स्थिति में वो नहीं है लेकिन केवल कहता है उससे जाके पूछेगा जी मेरे कोई दोष हो तो बताना उसको जाके पूछेगा कि मेरे कोई दोष हो तो बताना आग्रह भी करेगा और सामने वाला जब बताने लग जाए तो कुछ ऐसे दोष बता दे जो उसको सहन ही नहीं हो तो समस्या खड़ी हो जाती है यदि बातचीत में दोष बताते समय ये प्रतीत होने लग जाए कि अब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो चुप हो लेना चाहिए उस समय यदि समाज की राष्ट्र की और किसी की विशेष हानि नहीं हो रही हो तो उस समय चुप हो लेना चाहिए फिर कभी बताएंगे हमने कहा कि मैं आपको दोष जी कुछ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ताकि हाँ बताइए जी मुझे थोड़ा इसमें दोष दिखाई दे रहा है क्या मैं बता दूं बोले हाँ बताइए इतना करने पे भी बताना शुरू किया और बताते बताते हमें लग रहा है कि सामने वाले की अब सुनने की स्थिति नहीं है तो थोड़ा संकेत करके बस अपने को रोक लेना चाहिए ये बहुत संवेदनशील होता है दोष बताना दोष सुनना स्वीकार करना तो दूसरे की क्या प्रतिक्रिया हो रही है कैसे वो उसको ग्रहण कर रहा है ग्रहणशील होते हुए भी धीरे धीरे यदि अग्रहणशीलता उसमें आ रही है बातचीत में और हमें पता लग रहा है तो थोड़ा बता के उतने चुप हो जाना चाहिए उस स्थिति में संस्थाओं में या परिवार में कुछ बातें चलती हैं तो चलती रहती हैं कोई बात नहीं उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती कि जिसको लेकर के हम आपस में तनाव कर लें झगड़ा कर लें वो कुछ सामान्य बातें होती हैं चलती रहेंगी बहुत विशेष स्थिति में सामने वाला स्वीकार नहीं कर रहा हो तो भी बताया जाता है यदि किसी व्यक्ति विशेष की कोई हानि हो रही हो अधिक हानि हो रही हो संस्था की हानि हो रही हो बड़ी बात हो तो वहां तो बताया ही जाता है थोड़ा तेजी से भी बताया जाता है कभी डांट के भी बताया जाता है कभी उल्हाने के साथ भी बताया जाता है लेकिन उतना महत्वपूर्ण वो चीज होना चाहिए नहीं तो अपने को चुप रखना चाहिए और वो शैली ठीक नहीं है कि जैसा है चलता है तो चलने दें ये तो शैली ठीक नहीं है पर कुछ स्थितियों के अंदर हम चूंकि दोष बता चुके हैं उनको सूचना दे चुके हैं हम अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं अब सामने वाला यदि नहीं कर रहा है तो वो उनका दोष है हम यदि संस्था का कोई ऐसा दोष नहीं बताते जिससे हानि हो रही है अधिकारी को नहीं बताते हैं तो हम स्वयं कर्तव्य से चित होते हैं हमें बताना ही चाहिए संस्था के हित में ये कर्तव्य बनता है घर परिवार में भी बताना चाहिए तो यदि हमने बता दिया हमने अपना कर्तव्य पूरा किया आगे उसकी स्वीकार्यता अस्वीकार्यता अगले व्यक्ति पे निर्भर करती है हम बहुत अधिक आग्रह करके जबरदस्ती कुछ चीजों को नहीं मनवा सकते दूसरा भी एकदम अपने को नहीं बदल सकता तो कुछ विषय आपके सामने रखा आप में से किन्हीं को कुछ इसमें कहना हो या पूछना हो तो बोल सकते हैं हाँ, स्वामी जी मुक्तानंद जी आया महीना में आपको जानकारी दी कि वो मनु पिता नहीं तो तो हाँ वो पिता बच्चों का पालन करता है वो मान रखते हुए उनका पालन करता है ताड़ना से अपमान सदा होता हो ऐसा नहीं है एक माता पिता ऐसे होते हैं जो दुत्कारते हुए बात करते हैं वस्तुएं भी देंगे तो दुत्कारते हुए उपदेश भी देंगे तो दुत्कारते हुए उसको हीन बताते हुए अपमानित करते हुए एक उसको भी मान देते हुए भले ही छोटा है उसका उचित मान रखते हुए सम्मान रखते हुए दोष भी बता रहे हैं तो उसका मान रखते हुए और ताड़ना कर रहे हैं तो भी उसमें एक मान रहता है तो ऐसे माता पिता या गुरुजन कभी ताड़ना भी करते हैं और ताड़ना करनी होती है अनेक जगह विभिन्न तरीकों से तो उसमें जो विद्यार्थी है या बच्चा है वो दुखी नहीं होता और बताने वाला ये उस स्थिति में देता है दंड कि सामने वाले को भी पता है हाँ मेरा दोष है मेरे से दोष हुआ है बताने पर भी दोष हुआ है मैं बार बार दोष कर रहा हूं और फिर उचित समय आने पर दंड देता है तो वो स्वीकार करना पड़ता है उसको वो बोल नहीं सकता है वो मान देते हुए भी ताड़ना की जाती है तो मान दे के रखता है इसका मतलब वो कभी ताड़ना नहीं करता लालना ही करता है लाड प्यार ही करता है ऐसा नहीं है दोनों बातें आवश्यक हैं दोनों तरह मिला के चला जा सकता है हाँ मान पूर्वक का मतलब यथा योग्य होता है दूसरा हम उसको ऐसी ताड़ना दें जिससे कि वो औरों के सामने अपमानित भी हो अपमानित नहीं करना है जैसे दंड तो दे रहे हैं उसको लेकिन वैसे अपमानित नहीं कर रहे हैं अनेक जगह अपमानित करना भी सबके सामने एक दंड होता है लेकिन सामान्यतया ये नहीं लेना चाहिए अपमान का दंड अन्य शारीरिक दंडों से या वस्तुओं के दंड से बहुत बड़ा होता है और वो बहुत अंदर तक चुपता है तो औरों के सामने उसका मान बना रहे इस दृष्टि से उसको अपमानित ऐसा दुत्कारा ना जाए ठोकर ना मारी जाए इस रूप में किया जा सकता है हम डांटते हैं उचित डांटते हैं तो वो सम्मान पूर्वक भी होता है हम डांटते समय उसको कुछ गालियां बकें उसको बहुत उसके बहुत सारे दूसरे दोष बता दें ये सारा का सारा अपमान पूर्वक होता है एक होता है कि जो आपने दोष किया है उसको उस समय उचित बस वो बताया और जो दंड देना है वो दिया तो मान पूर्वक होता है और कोई नहीं वो किया जाएगा कठोर बोलते हुए भी एक मान रखा जाता है कठोर बोलना सदा अपमानजनक नहीं होता है और यदि वो गुरु या माता पिता वैसे अच्छा व्यवहार रखते हैं और दोष होने पर कठोर डांटते भी हैं तो वहां बच्चे को या शिष्य को उस तरह से विद्रोह या आक्रोश नहीं होता है ऐसा नहीं होगा माता पिता गुरुजन यदि पर्याप्त दे रहे हैं उसका उसका हित चिंतन कर रहे हैं वो जानता है तो वो नहीं आएगा ऐसे आक्रोश में नहीं आएगा प्रतिक्रिया में नहीं आएगा और न वो अपना अपमान समझेगा इतना डांट के भी होता है प्रेम से सब नहीं मानते तो डांट सकते हैं कह सकते हैं और गुरुजनों को तो बताना ही चाहिए उनका तो काम ही यही है ये मुख्य दो दिक्कत वहां आती है जब हम बराबर वाले को या अन्य अधिकारी को बताते हैं तब ये संवेदनशीलता अधिक रहती है रविशंकर जी जैसे कि किसी भी एक हमको कोई काम कार्य दिया के हम उसे कर रहे हैं अब उसी कार्य के बीच में फिर दूसरा अधिकारी आता है और हमने काफी कार्य कर दिया अब होता ऐसे भी ये कार्य तो ऐसे होना चाहिए और उस समय हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हमारी होगी तो फिर उस स्थिति में उसके प्रति फिर व्यवहार बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए नहीं वहाँ इनका प्रश्न इस तरह का है कि एक व्यक्ति ने एक अधिकारी ने कोई कार्य बताया उस शैली से हम कर रहे हैं काफी कुछ हो गया और वो ठीक भी चल रहा था लेकिन अन्य कोई अधिकारी आया उसने कहा नहीं इस काम को तो ऐसे करना चाहिए ये ठीक नहीं है और करने वाले को ये ज्ञान है कि पहले जो कर रहा था वही ठीक था और ये अब जो बता रहे हैं ये ठीक नहीं है तो जोर दे के कह रहा है कि ऐसा ही करो तो उन स्थितियों में पहले तो एक प्रेम पूर्वक बताना चाहिए कि जी उन्होंने इसी तरह बताया था और ऐसा करने से इस तरह धीरे से थोड़ा सा उसका लाभ बता सकते हैं या दूसरा तरीका है तो कह सकते हैं जी मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा करेंगे तो ये हानि हो जाएगी या ये ठीक तरह नहीं हो पाएगा ये इतना सा कह दिया ठीक है लेकिन वो फिर भी आग्रह रखते हैं अनेक बार होता है आग्रह कि नहीं जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप करो तो उन स्थितियों में ठीक है जी वैसा कर वैसा कर दीजिए क्योंकि वो अधिकारी है आप अधिकारी के लिए बात कर रहे हैं उन्होंने कहा है और यदि कुछ वो गलत हो रहा है ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसका दायित्व उन्हीं का होगा फिर पहले वाले अधिकारी हैं या अन्य कोई जब कुछ कहें तो जी उन्होंने मेरे को जैसा कहा वैसा फिर मेरे को करना था मैंने वो किया जाके सूचना दे सकते हैं तो उसमें करने वाले का दोष नहीं बनता लेकिन यदि यहां हम ये कट्टरता ले लें कि नहीं जो ठीक है वो ही करना चाहिए जो गलत है वो तो नहीं करना चाहिए तो मैं ये क्यों करूं मुझे तो ये नहीं करना है ये गलत बात के लिए क्यों आग्रह कर रहे हैं इस मानसिकता में हम आ गए कुछ हमने वाक्य बोल दिए और उनको कहने गए कि नहीं जी ये तो गलत है वो फिर एक दो बार जोड़ देंगे नहीं आप ऐसा कर लो बोले नहीं जी ये तो गलत है आप गलत का आग्रह क्यों कर रहे हो अभी आक्षेपात्मक भाषा हो गई अवहेलना की भाषा हो गई तो जो वहां थोड़ी सी हानि हो रही थी मान लो उनके अनुसार कर लिया हमने कोई थोड़ी बहुत हानि हो रही है हो गई उस थोड़ी सी हानि को बचाने के लिए यहां हम बहुत बड़ी हानि आपस में कर लेते हैं तो ये तो हमें विवेक रखना ही चाहिए कि ये छोटी सी हानि से बचने के लिए हम अगर यूं कहेंगे और फिर बात बढ़ गई आपस में तकरार हो गया उन्होंने सोचा ये अवेलना है तो वो बड़ी हानि होती है संस्था की हानि होती है संगठन की हानि होती है उसमें फिर कर लेना चाहिए कोई बात नहीं ज्यादा से ज्यादा हमें उन स्थितियों में बता देना चाहिए ये साथियों के साथ भी होता है बराबर वालों के साथ भी होता है वो दूसरा इसी बात पे अड़ जाता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है आप जानते नहीं और आपको यही करना चाहिए आग्रह पकड़ लेता है वो नहीं करना चाहिए सामने वाला अगर नहीं मान रहा है हम ठीक है पता है कि मैं ठीक हूं और ये गलत है तो भी बता दिया कोई बात नहीं उसको भी पता लगेगा करने वाले को बाद में पता लग जाता है बाद में समझ में आता है तो थोड़ी सी हानि से बचने के लिए आपसी संबंधों को बिगाड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए वहां उन्होंने कहा है तो कर लेना चाहिए और उसमें करने वाले को दोष नहीं लगेगा क्योंकि करवाने वाले ने ऐसा करवाया है दोष उन पे जाएगा अगर बात आती भी है तो करवाने वाले पे जाएगी वो कर लेना चाहिए काम हाँ अत्यंत हानिकारक हो अत्यंत अधर्म वाली बात हो वो तो किसी की भी नहीं माननी चाहिए और कोई सत्य रहता है इनका प्रश्न है कि बच्चों को मान देते हुए उनका सम्मान रखते हुए डांट आदि भी करनी चाहिए तो उसमें कोई आयु की सीमा है या सबके लिए आप ऐसा कह रहे हैं एक कहा जाता है बच्चा 16-18 वर्ष का हो गया है तो फिर बराबर की तरह व्यवहार करना चाहिए लेकिन छोटे बच्चों के साथ लेकिन छोटे बच्चे को भी मान दे के करना चाहिए सम्मान दे करके करना चाहिए आप स्वामी जी को देखिए स्वामी सत्यपति जी किसी भी छोटे को भी बोलेंगे तो आदर पूर्वक ही बोलेंगे जी लगा करके ही बोलेंगे परिवारों में जाते हैं बच्चों से मिलते हैं जब उन्होंने देखा हो छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो छोटे बच्चे के साथ भी बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं हाँ डांटना होता है तो वो डांटते भी हैं बहुत छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन जो वैसे व्यवहार करेंगे वो छोटे छोटे से बच्चे को भी किशोर हो युवा हो वृद्ध हो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो निर्धन हो उनके साथ भी वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं सबसे प्रीतिपूर्वक वो, वो पहले है ही वहां पर धर्मानुसार और यथा योग्य अंतर होता है लेकिन प्रीति तो होनी ही है प्रीति पूर्वक ही व्यवहार होना है उम्र की कोई सीमा ऐसी नहीं ठीक है कुछ अंतर होता है जो जितने बड़े होते जाते हैं वहां हमें अधिक ध्यान रखना होता है क्योंकि उनका आत्मसम्मान अधिक आहत होता है बड़े होने पे छोटे बच्चों में चल जाता है और वो भूल भी जाते हैं बड़ों में अधिक दिक्कत होती है इसलिए लेकिन इतना होते हुए भी छोटे बच्चों से भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए तो रविशंकर जी किसी विषय में तो ये अगर कभी कभार ऐसा भी होता है तो पहला अधिकारी होता है तो वो क्या होता है कि आप इतना भी विवेक नहीं करेंगे उन्होंने कह दिया और आपने कर दिया अपना विवेक जब आपको लग रहा था कि ये सही है तो है तो ऐसा भी होता है हाँ, इनका प्रश्न ये है कि कई बार पहला अधिकारी कहता है कि आपने क्यों मान लिया उसको उनकी बात को क्यों मान लिया आप में विवेक नहीं था क्या ऐसा बहुत कम होगा यदि समझदार अधिकारी है तो ऐसा नहीं करेगा वो चुप हो जाएगा उसे पता है कि जब दूसरा भी व्यक्ति आके कहेगा तो आप किस स्थिति में हो आप तो दोनों तरफ का दबाव अनुभव कर रहे हैं वो जानता है कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी तो वो उनसे बात करेगा दूसरे अधिकारी से अलग से बात करेगा आपको जोर नहीं देगा अगर ऐसा होता है तो फिर उन संस्थाओं में समस्याएं खड़ी होंगी उस पहले वाले अधिकारी ने आपके सामने कह दिया यानी वो तो कुछ भी नहीं जानते ये नहीं करते आपको तो मेरा ही कहा करना चाहिए था समस्या खड़ी हो जाएंगी वहां तक दूसरे तक भी बात पहुंचेगी उन अधिकारियों में आपस में झगड़ा हो जाएगा संस्थाओं में एक दूसरे का दूसरे अधिकारी का खास तौर से परस्पर मान रखना सम्मान रखना इस संगठन की मूलभूत बात है हम किसी के दोष छोटों के सामने बताते रहें कर्मचारियों के सामने बताते रहें शिष्यों के सामने बताते रहें तो संस्था चल नहीं सकती है झगड़े होंगे अधिकारियों में यदि ऐसा हो रहा है तो अगर वाणी का संयम नहीं है उन अधिकारियों में तो संस्था नहीं चलेगी झगड़े होंगे अवश्य होंगे यदि वाणी का संयम है हमें दोष बताना है दूसरे अधिकारी को तो अलग से बैठ के बताते हैं आपस में चर्चा करते हैं आप बताइए कितने भी दोष बताइए वो चल सकते हैं सहन हो सकते हैं तो समझदार अधिकारी तो ऐसा नहीं करेगा जो आप कह रहे हैं अगर वो करता है तो दिक्कत आनी है उसमें फिर अधिकारी कारण है हम कारण नहीं है तो इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं कोई सूचना है एक